देखो हल्के अभ्यास से जीव बेचारे फंसे हैं देखने सुनने सूंघने खाने पीने शरीर को मैं मानने में फंसे तो अब हल्का स्वभाव हटाने के लिए ऊंचा स्वभाव करना पड़ेगा बिना अभ्यास के ये पुराने संस्कार नहीं मिटेंगे जब कछु काल करे सत्संगा तब हुए भेद भरम भव भंगा कुछ समय तक उस सत्य का संग करे सत्य नित्य है चेतन है ज्ञान स्वरूप है विकार असत है दुख भी असत है हर्ष भी असत है शोक भी असत है उसको जानने वाला सत्य है उस सत्य में स्थिति करने का ठान ले कठिन भी नहीं है लेकिन आदत पुरानी है ना जगत के तरफ ये कर लूँ ये पढ़ लूँ ये पढ़ लूँ कबीर जी बोलते हैं भलो भयो गेवार जा न व्यापी जग की माया अनपढ़ अच्छा जो जगत की सत्यता तो नहीं है झंझट तो नहीं है जितना जितना जगत को सत्य मानकर कुछ विशेष बनना चाहते उतना उतना ईश्वर से दूर हो जाते बाल्यकाल से लगे ईश्वर के तरफ तो आसानी से मिल जाता है शादी विवाह के पहले लगे तो ब्रह्म नाड़ी मजबूत होती है वो जल्दी काम बन जाता है जब संसार में शादी ये घिस पीट के फिर सारी जिंदगी घुटने टेकते रहो साक्षात्कार नहीं होता ये उम्र है कर लिया तो कर लिया पा लिया तो पा लिया इसमें ईश्वर प्राप्ति के रास्ते में जगत की कोई वस्तुओं की जरूरत ही नहीं है न सर्टिफिकेट की ज़रूरत है न जगत की पढ़ाई की ज़रूरत है ईश्वर प्राप्ति ईश्वर स्वतंत्र है जीव ईश्वर का संबंध शाश्वत है और ईश्वर स्वतंत्र है वो इसी से मिलेगा ऐसा करेंगे तब मिलेगा नहीं उल्टा अभ्यास को मिटाने के लिए उल्टा अभ्यास करोगे जब करें 120 माला रोज जब करे और माला पे नहीं करे ऐसे ही जब करे तो भी चले योग वशिष्ठ पढ़े ईश्वर के और पुस्तक पढ़े जिसको जल्दी परमात्मा प्राप्ति करनी चाहिए करनी हो उसके लिए योग वशिष्ठ में एकदम साफ रास्ता है एक पहर ओमकार का जप कुल मिला के तीन घंटे ओमकार का जप एक पहर शास्त्र विचार करें आत्मा क्या है मैं कौन हूँ मन क्या है बुद्धि क्या है उससे परे क्या है उसको जान लें शास्त्र का अध्ययन एक पहर मतलब तीन घंटे तीन घंटे शास्त्र अध्ययन तीन घंटे ओमकार का जप तीन घंटे ध्यान और तीन घंटे सत्पुरुषों की सेवा सानिध्य पार कैसा भी हो साल भर तो बहुत हो जाता है हमको चालीस दिन में हो गया परीक्षित को तो मेरे से भी बढ़िया सात दिन में ही हो गया सात दिन में ग्रेजुएशन नहीं होता सात दिन में एक कक्षा भी पार नहीं होता ये सारी कक्षाओं के ऊपर पहुंच एम एमडी करके क्या जख मार लिया ऑपरेशन करती है एमडी हो गई मिसिस मिनिस्टर है क्या मिल गया आया नहीं तेरा मिनिस्टर कल आएंगे चलो ठीक है नारायण हरि हरिओम हरि हरिओम ओम ओम विश्रांति हो सदा अंतर्मुख रहे स्वयं प्रभा इतनी गुरु की कृपा पचाई कि हनुमान जी उसके आगे मथा टेकते शांडिली कैसी महान हो गई गालब ऋषि और गरुड़ को भी संकल्प से गला दिया अभी जयपुर के पास में गलता तीर्थ है शांडिली की तपस्या से गरुड़ और गालब ऋषि दोनों ये हो गए दृढ़ संकल्प होना चाहिए मीरा का दृढ़ संकल्प रईदास से अलग से बात करती थी तो राणा तक बात पहुंची राणा ने कहा दो चार बच्चे हो जाए बाद में भले तू जान साधु संतों से मिल अभी तुम अलग से उनके पास जाती हो मिलती हो लोग कुछ का कुछ बोलता है इज्जत का सवाल है तुम अपना खानदान देखो वो चमार है उसको गुरुजी मानना सकड़ी गली में उसके पास जाना बैठना मीरा ने भजन बना के गा के सुना दिया राणा जी ने कहा ये बदनामी अच्छी नहीं मीरा ने कहा राणा जी माने या बदनामी लागे मीठी मुझे ये बदनामी मीठी लगती कोई निंदो कोई बिंदो मैं चलूंगी चाल अनूठी सांकली गली में सतगुरु मिलिया क्यों कर फिरूं आपूति अब सदगुरु मिल गया अब आपूति क्यों रहूंगी सब पुत्र ही पुत्र हैं मेरे माता जी माता जी सब करेंगे सांकड़ी गली में सतगुरु मिल गया अब क्यों रहूंगी आपूति सतपुरुषों जी से सतगुरु जी से बातें करता दुर्जन लोगों ने दीठी दुष्टों ने मेरे को देख लिया मीरा के प्रभु गिरधर नागर में तो चाल चलूंगी अनूठी निंदक जाए जल मरो अंगूठी अंगीठी अंगीठी माना सगड़ी तो ऐसी दृढ़ मीरा कुछ का कुछ कोई बोले लेकिन चल पड़े तो चल पड़े मेरे को भी समझाने वाले पटाने वाले बोलने वाले कम नहीं मिले थे मेरा भाई ऐसा टैक्ट करता था कि जाके बाजार में बोल दे के आओ मेरे भाई को समझाओ वो मानता नहीं वो सब आके शेखी बघाड़ते कभी कोई आवे कभी कोई व्यापारी आए भाई तुम सुधर जाओ अपना बड़ा भाई है पिता के समान है वो अकेला पड़ता है बेचारा दुखी होता है भाई को दुखी करके तुम भजन करोगे तो भगवान थोड़ी राजी होंगे ऐसा वैसा न जाने क्या क्या पट्टियाँ पढ़ाते थे मैं सुन के फिर वो बोलते यार कुछ तो बोलो मैं ठीक वो जाता मन में कर लेता जिसको ईश्वर प्राप्ति नहीं उसकी बात में रखा भी गया है छटाई कर देते थे तो डटे रहे अगर उनकी बातों में आते तो कोई कुछ करता है संसारी संसार के तरफ भी खींचते जो पड़े हैं संसार लेन देन कर उसी उधर ही खींचते कोई कोई बिरले होते हैं जो कृपा करके ऊपर उठाते बाकी तो सब ये कर लो वो कर लो वो कर लो बैल बनो बस गाड़ी खींचो कह को बैल बनना सुलभा जोगिनी बन गई स्वयं प्रभा जोगिनी बन गई अब सिल्की जोगिनी बनने के रास्ते आएगी थोड़ा थोड़ा ये भी इसको भी फंसाने वाले फंसा रहे थे लेकिन बच गए बोल हम्म। एक लाख डॉलर पचास लाख कमाती है तो अभी तो ज़्यादा कमाती है